भी समय से आपको अलग अलग ढंग से दिखाई दे किसी को दिखाई दे के कागज मुंह बड़ा है पीछे छूटे है उनके जो है उनके सब बाल हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं किसी के जो वो ये सब भिन्न भिन्न नारी और सब ब्रह्मांडों की सरयू नदी और सरयू नदी सब ब्रह्मांडों के भिन्न भिन्न प्रकार के और सरयू में बात करने वाले जितने मनुष्य हैं स्त्री पुरुष हैं सभी ब्रह्मांडों में स्त्री पुरुष दिखाई दिए अयोध्या में बात करते हैं लेकिन अयोध्या में बात करने वाले मनुष्य जो सब है वो एक समय तरह तरह के देखिए सभी ब्रह्मांडों में कोई कोई है कोई कोई है कोई कोई है लेकिन अयोध्यापुरी है अयोध्यापुरी एक सिंह सरयू है लेकिन सरयू एक सिंह अपने सब में भिन्नता है दशरथ कौशल्या सुनताता विविध रूप भरता विवराता अरे राम दशरथ भी है लेकिन सब दशरथ एक समान नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के दशरथ कौशल्या सब दक्षण जगह लेकिन सब कौशल्या जितनी है सब भिन्न भिन्न प्रकार की है कोई लाल साड़ी पहनने वाली कोई पीली साड़ी पहनने वाली कोई गले में माला पहनने वाली कोई सब में आभूषण धारण करने वाली कहता है तरह की तरह तरह की सपने को समझा कहीं कहीं की को समझा जरा मोटी कहीं कहीं की बिल्कुल बिल्कुल सब देखो जितनी स्थिति में देखा तो ऐसे नहीं कि एक कसिया वही कसिया बनाना वही कसिया वही पकड़ना ऐसा वही नहीं इसलिए भिन्न भिन्न इसलिए वही वही सब अलग अलग है इसलिए अलग अलग है क्योंकि अलग अलग होने का भी कुछ कारण होना चाहिए उनका रूपरेखा कुछ न कुछ उनकी अलग हो सकती है भाई का जो भाषा भाई जितने लोग हैं वो भक्त क्या इकाई है वो भी सब भिन्न भिन्न अलग अलग रूप उनके सबके हैं ब्रह्मांड अवतारा अवसर में भगवान का अवतार भी जब कौशल्या है दशरथ है अयोध्या है भरत आदि है तो भगवान राम भी है हर ब्रह्मांड में उनका भी अवतार हो रहा है प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखू बाल दिनों विनोद अवतारा पानी का उतार होता है तो बाल लीला होती तो बाल लीला भी देती भगवान ने कहा हमको एक ही ब्रह्मांड की बाल लीला थोड़ी देते हैं सभी ब्रह्मांडों भगवान अवतार देते हैं तीन ब्रह्मांडो में वहां आया तब भी हमने भगवान की बाल लीला देखी सबसे बड़ी लेकिन एक बार जब हम धीमी जी करते चले आ रहे हैं तो अब एक बार देखो कुछ चीज भी है कहीं एक बार भी तो कैसे बस भगवान राम है वो अब कहो तो भिन्न ब्रह्मांडो में है तो भिन्न भी है तो वो भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न में भी कुशल अति विचित्र हरियाण कई बार गया ये सब चीजें तो भिन्न भिन्न विचित्र विचित्र देखी अगन तो भुवन स्त्रियों प्रभु राम न देखो इतने ब्रह्मांडों में तो वही दूसरे ब्रह्मांड में सब जगह इस प्रकार से मैंने जब विद्या माया की अपेक्षा से परमात्मा का विचार करेंगे तो सृष्टि को देखो माया की सृष्टि और उस सृष्टि में माया को जो जितना है उसमें जितना भी वेग है मानस है विचित्रता है वो सब माया ही उसमें रचना है लेकिन परमात्मा में कोई नाना रूप विचित्रता नहीं है परमात्मा एक अखंड एक मतलब वही परमात्मा को अब जैसे वेदांत के हिसाब से कहेंगे जो है सच्चिदानंद स्वरूप अपन तरफ आकाश की तरफ जाकर अनंत परमात्मा उसी परमात्मा में ही सभी ब्रह्मांड है तो सब ब्रह्मांडों में वही परमात्मा एक समान विद्यमान है जितनी रचना हुई वो नाना प्रकार की होती जाती है जैसे आकाश एक चाहे दिन हो चाहे ना हो तो हजार मील दूर हो आकाश एक समान सब जगह विद्यमान आकाश तरह तरह का नहीं है लेकिन हवा एक जगह भक्ति चल रही है दूसरी बाबा देवी चल रही है उसी उसी आकाश में भी वायु है एक जगह गाय देवी चल रही है तूफान चल रहा तो वो भिन्न भिन्न वायु के रूप हो गए तारे देखेंगे उनके जगह ताप ज्यादा है दूसरी के ताप कम है ये तो भी आकाश के भीतर कहीं कहीं स्वीकार कर सकता है लेकिन जहाँ ज्यादा ताप है वहाँ कोई ज्यादा आकाश है ये दूसरा आकाश है जहाँ कम ताप है वहाँ कोई कोई दूसरा आकाश है जैसे आकाश पर्वत रहे दृष्टान्त रूप में देखते हैं इसी प्रकार देखते हैं ब्रह्मांडों की रचना के नाना प्रकार के तरह तरह के हैं लेकिन वो परमात्मा शब्द है एक ही होकर के विद्यमान है अपने उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है प्रभु राम और सही सुपन सोई शोभा सही कृपाल रघुवीर वैसे वही भगवान है वही उनका बालपन भी उसी प्रकार का और वही उनकी सुंदरता और श्री कृपाल रघुवीर और वही भगवान श्री राम जी है वो कही है वो अलग अलग नहीं कई है निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वत्र एक है इसी प्रकार से अवतार लेने वाले भी सगुण साकार भगवान जो उनको भी एक है सोई सुपन शोभा कृपाल रघुवीर और भुवन भुवन देखत समीर सब भुवन भुवन में देखते हर ब्रह्मांड में घूमते तो सब ब्रह्मांडों में यही सब लीला को दिखाई दी और मोह समीर मोह से मोह रूपी वायु इनको ले जाती थी जगह जगह जैसे हर व्यक्ति उसे कहने की बात करिए कि व्यक्ति जीव जब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान में जो भटकता रहता है उसे कौन भटकाता है जीव को उसका मोह ही जो भटकाता रहता है मोह शरीर में मोह की आंधी तूफान में जीव उड़ता रहता है मोह तूफान की तरफ से चलता है तो जीव उसी के मोह से तेज होकर के एक शरीर से दूसरे शरीर दूसरे शरीर से दूसरे शरीर में नाना प्रकार की समस्या नाना प्रकार का रोना धोना नाना प्रकार का है दिल को प्रसन्नता उत्साह कहीं बहुत प्रसन्न है कहीं रो रहा है कहीं बन रहा है कहीं बिगड़ रहा है ये सब मोह जाल के भीतर जीव इसी प्रकार से चलता रहता है सब ने बताया कि हम इसी प्रकार से मोह में पड़े हुए सब जगह जगह घूमते रहे अब ये ये देखते कि अंत कहाँ है करना है कहाँ तो कोई पार है चलते रहो इस प्रकार चलते रहो इसी तो अंत में हार करके हम ये और यही उन्होंने सोचा तो देखो ये तो आनंद इसका कोई पार ये नहीं कह सकते कि इतने ये कहो चलो इतने करोड़ इतने सौ की ब्रह्मांड है दस कोट है पचास कोट है सौ कोट है हजार कोट है ऐसे करके बोल दो तो भी कोई लोगों को गणना करके निश्चित करके नहीं डाल सकता अगर सत्य वस्तु होती तो गिरगिना करके निश्चित भी करके फिर गिन डालो सत्य वस्तु गिन लो चुकी है जहाँ मिथ्या है तो एक तरफ आप गिनते जाओ तो पावर पीछे हो गई करो और जहाँ आगे न हो वहाँ आप गिनते जाओ तो वहाँ तो बढ़ती चली जाए जब तक एक ब्रह्मांड एक दूसरे ब्रह्मांड में गए हों तो, तो पिछला ब्रह्मांड की पकड़ लगी हो गई और जब तक आगे परमात्मा में गए तो दूसरा ब्रह्मांड बन गया हो दूसरी सृष्टि आ गई हो गिनते रहो तुम तब तक पिछला मिलता रहेगा आगे तो मैं आपको मिलता रहे कैसे तो होगा सृष्टि जो जय राम जय जय